मूर्ख तो मैं जानता हूँ झूठे इसलिए कि मूढ़वत हंड्रत वक्त नारामी मूढ़ के समान झूठ बोलना मेरी बस की बात नहीं श्रुति सिद्धांत हजार मूढ़ यथा अनृत वक्त अदर श्रुति सिद्धांत न जानते हुए मूढ़ जिस प्रकार से अनृत कहा करता है ठीक उसी प्रकार से मैं नहीं कह सकता स राजपुत्र एवं प्रत्यायता इस प्रकार से अनेक प्रकार से बोध करा दिया ना तब जाकर के उसको निश्चय हो गया कि हाँ भाई तुष्टि पीड़ित तो। चुपचाप लचित सोचा मैं क्या सोच के आया हाँ लेकिन जो है यहाँ भी कुछ नहीं मिला खाली हाथ लौटना पड़ता जैसे आप किसी के दरवाजे में जाए जैसे आजकल लोग बेरोजगार लोग जाते हैं अनेकों कंपनियों के दरवाजे खटखटाते हैं और कहा जगह वो भी कंपनी वाले परेशान बाहर में बोर्ड ही टांग दिया नो वेकेंसी खत्म क्या करेंगे वो जितने चाहे चीज से बात करेंगे पूछेंगे वो बताएंगे उनको समझाएंगे उसे बोल डिटा आएगा और देख के अपने वही गेट से बात अरे वह बोर्ड नहीं है आप अंदर घुसे बड़ा घटगेट दिखाया उखाया सब अपने आप बहुत कुछ बखान किया फिर अगला कहता है नहीं भाई आपके लायक हमारे कोई काम क्या हो मुंह लटका लौटेगा कि नहीं लौटेगा बड़ा खुशी से आएगा बाहर हो नहीं बड़ा दुखी होकर बाहर उसी प्रकार ये भी गया था बड़ी खुशी से कि भाई आ जाऊंगा हाँ बड़े विद्वान है उनके पास जाने से मेरे को बड़ा ज्ञान मिलेगा प्रमुख ज्ञान मिल जाएगा लेकिन वहां कुछ नहीं मिला चढ़ करके वापस लौट गया यह स्थान में कृत श्रम हो गया ना आस्थान में कृत श्रम उचित स्थान में श्रम नहीं और श्रम करने पर वो लज्जित होकर लौट नहीं पड़ता है जैसे कुआ कोई खोद रहा है खोद रहा है खोद रहा है बड़े पहले घमंड से बोला यहाँ मैं इतने फुट पर लाऊंगा पानी और गया गया गया उसका दो गुना भी चला गया पानी नहीं निकला तो क्या होगा बेचारा लज्जित तो होना ही पड़ेगा क्या स्थान में परिश्रम जो करता है दावा करते हुए वह व्यक्ति निश्चित से दुखी होगा प्रगतवान यथागतम जैसे आया वैसे लौट गया जैसे आया वैसे यहाँ भी आते हमारे आश्रम में जैसे पता नहीं क्या क्या सुन करके आ जाते और यहाँ के देखो कुछ और युवा को सोच करके बहुत पैसा होगा खाने पीने खूब मिलेगा गाड़ी घोड़ा मिलेगा घुमा फिरा करूंगा टीवी होगा देखा करूंगा और यहाँ पे टीवी ना टीवी ना अखबार ना अखबार ना कुछ भी नहीं झंझट वो देखते उसको कुछ नहीं देखा जाता ये क्या विवाह है कुछ चले जाते शिक्षा है पास जो चीज वो लेने तो आया नहीं जो चीज अपने पास है बाहर दिखेगा थोड़ी और बाहर अपेक्षा शरीर लेके आते हैं तो उनको कुछ नहीं और तो अंदर जो चीज है वो भी मिलना आसान तो है नहीं इतना आसानी से पहुंच जाएगा क्या तो घी तेल है कि जो है थोड़ा गर्मा जो तेल के बाहर आ तो क्या है और एक दो दिन का काम भी नहीं कई साल लगाने पड़ते हैं करते करते करते अब उतनी उनके पास धैर्य का इसलिए इसी पर यहाँ पर कहते आपका स्थान में कृत परिश्रम होगा स्थान में भी आस्थान की भ्रांति भी हो जाती है तो समझते तो है नहीं कौन है क्या है जैसा वहां पर भी अब शुरू में उन्होंने क्या किया पपला तो भाई ये कहा तो ब्रह्मचर्य करो और यदि जानते तो, तो शुरू में वो बात जाते आजकल के लोग होते घर भर तो आगे काम कुछ नहीं जानते जाओ तो क्या होगा साल भर परिश्रम करना बेकार पूछा जाए तो संस्थान में भी अवस्थान की भ्रांति हो सकती है योग्याय जानता विद्या वक्तव्य सर्वासु व्यवस्था सिद्धम भव यह बात साबित हो गया आचार्यों के लिए कंडीशन हो गया यह नियम लग गया उन पर आचार्यों के ऊपर न्यायता उपसंहार जो उचित ढंग से शास्त्र सम्मत विधि से जो शरागर शिष्य है योग्य भी है ऐसा व्यक्ति के लिए विद्या जानता विद्या को जानते हुए आपका कर्तव्य है कि आप मना नहीं करना बीमारी पहले कोई बीमारी हमारी किस बात की ये ब्रह्म ज्ञान की बताने की बीमारी शरीर में है नहीं देना सर्वात्म क्या मलम लगाना पड़ता है और मेरे यहाँ तुम्हारा तो शल लगा हुआ ही है अभी तक चुपला ही नहीं मलम पड़ती हुई शल्य हाँ। मेरा हृदय में स्थित उसको मैं आप वर्ते पुरुष जीव विज्ञेय भूता पुरुष बताइए न बताए बस बता दी जगह बता दे बाकी हम अपने आप कर मालूम तो हो जाए कि अमुक जगह रहता है ये पुरुष यह ब्रह्म कहाँ रहता है मालूम हो जाए तो हम पूछ लिया कहाँ रहता है कह करके भाई तो भीतर वह भीतर वह पुरुष शरीर के भीतर रहता नेता सोर्स कलाप का बोलते इस प्राण और ये समस्त स्वर कलाए उसी से आगे बताए जाने वाले स्वर कलाएं हैं उन स्वर कलाओं को भी वर्णन करेंगे चौथे मंत्र से मंत्र है जवाब है का भी साक्षात करेंगे इसलिए इसमें दाशोष सलाह प्रबंधी जिस ग्रंथ में और उसी में ही ईश्वर कहाए अध्यारोपित होकर के उत्पन्न के समान व्यवहार होता है आरोपित है इसलिए अश्विन कौरी सत्य प्रयोग कर रहे जिस अधिष्ठान में अध्यारोपित होते हुए भी ये तो असमाधि प्रबंध पैदा हो गया ऐसा व्यवहार पर कहीं नहीं या बाहर बल शरीर का भीतर में है तस्मय सहवाचा यही वह अंत शरीर यही वह शरीर है ऐसा न कह करके अंत इसलिए करेंगे लोमालियों में उसको न कोशिश करें इसलिए कह दिया अंत शरीर पुंडरी का आकाश मध्य शरीर के भीतर भी कहा ऑपरेशन कर लेंगे इधर भी ढूंढ लेंगे बाहर नहीं मिलेगा तो क्या तो कहते नहीं भीतर में भी वो आकाश में अब क्या आर्दा का क्या प्रश्न हो आप आपको चीर पार कर सकते हैं आकाश का तो कोई ऑपरेशन तो कर हृदय का ऑपरेशन हो जाएगा हृदय आकाश का ऑपरेशन और हृदय आकाश के भीतर छिपा लेकिन तो हृदय जिस देश परिचय हृदयाकाश पकड़ में आ जाएगा उस हृदयाकाश के भी है हृदय पुंडरी का आकाश हृदय हृदय भी कमल है जो सर्वक्षण आकाश उसके मध्य जाने वाले से पूछे कौन सा कौन सी चैनल है कुछ नहीं क्योंकि आप सब जानते हैं ये आरोप चैनल तो आता है वो दिखा फिर उस उपाधि के बिना और टीवी साबित ही नहीं हुआ रेडियो भी नहीं सर तो आरोप के द्वारा फिर उस आरोप का अपनयन करने से साबित होता है वस्तु लौकिक व्यवहार में भी हम जैसा देखते हैं ठीक उसी प्रकार से कहते यहाँ पर भी षोड़श कला में उपाधि भूता भी सकल सोलह कला व्यापारियों उपाधियों के द्वारा सकल कलाओं के सहित समान हो गया कौन निष्कला कैसे लक्षित करोगे अविद्या उपाधि भी निष्कल सकल युवा उपाधि कलाध्यारो तो अपनयन तारश उपाधि आप तक जो कलाओं का अध्यारोप जो हो रखा है उसकी अपनयन के द्वारा उसको हटाने के द्वारा नेति नेति पर निषेध करना होगा निषेध करने के द्वारा विद्या विद्या के माध्यम से सपुरुष केवल वह पुरुष ऐसा पुरुष जो सकल के समान था वह निष्फल वह केवल पुरुष दर्शितव्य वह ही दर्शाना चाहिए इस प्रश्न का अनुरूप जवाब तभी हो सकेगा इति इस प्रकार से मांग करके कला नाम तत्व कलाम का जो है उसी ब्रह्म सूत्र का कथन किया जा रहा है नाम अत्यंत निर्विशेष ही अद्वय शुद्ध तत्व न शक्य अध्यात्म मंत्री प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार कर्तव्य प्रभव उपपकिया आरोप और दूसरी बात वह निष्कल जो अद्वैत शुद्ध तत्व है तो कहते हैं प्राणादि नाम अत्यंत निर्विशेष प्राणादियों को उसके अंदर दिखाना है तो कैसे वह अत्यंत निर्विशेष वही तो शुद्ध तत्व में न शुद्ध अध्यारोप मंत्रेणा अध्यारोप किए बिना प्रतिपाद्य प्रतिपादादि व्यवहारो कर्तम न शक्त ऐसा काज व्यवहार भी करना संभव नहीं है आवसी ही फलानाम प्रभवचरी अपया फलाओं की उत्पत्ति स्थिति और लयों को आरोप्य अविद्या विषया चैतन्य अव्यतिरेक विफला जायमान आतिष्ठा प्रलियमास्त अविद्या विषय सारे का क्या है अविद्या परिचित होता है चैतन्य के बिना ये जो कलाएं हैं जाए मारा उत्तम होते हुए इष्टम स्थिति को प्राप्त करते हुए अपनी अफलियमाचलय को प्राप्त करते हुए सर्वदा लक्षण थे सर्वदा मैंने जागरूक सब शिव तीनों अवस्थाओं में सभी कालों में वर्तमान भूत और भविष्य सभी कालों में भी लक्षण थे के चित्र गर्भ विवाह भी आकर चित्र जाए जायते न शरीर इसलिए कुछ लोगों का कहना है कुछ भ्रांत लोगों ने किनचित भ्रांता हाँ, कुछ भ्रांत पुरुषों के द्वारा कहा गया है कि अग्नि संयोग घृतम ये जो अग्नि का संयोग से घी पिघल जाता है उसी प्रकार से घटा आग्रण चैतन्य प्रतिक्षण जाए न दीदी घटा आग्रण चैतन्य ही स्वयं उत्पन्न हुआ करता है और नाश होता है क्षण विज्ञानवादी बहुत ढूंढ गए मत तन निरोध शून्य सर्व पर है और शून्यवादी बहुत कहता है कि नहीं भाई तन निरोधे सभी उसका भी जब निरोध कर देते हैं तो मैंने जब प्रवृत्ति विज्ञान को निरोध कर देते तो हमारे विज्ञान का स्वरूप शून्य के समान हो जाता है कोई नहीं रह गया कुछ भी नहीं रह गया एक धारा चल रहा है घटपट मनादि ज्ञान आकार वृत्तियों की धारा वृत्तियों की धारा को ही चेतन की धारा मानते क्षण विज्ञान चेतन ही अनंत रोपण उत्पन्न विनाश होते जा रहा है और एक तो धारा को निरोध कर दोगे तो क्या रहेगा कुछ नहीं रहेगा शून्य रह जाएगा शून्यम एवं सर्वम पर है इसलिए सर्व सर्व शून्यम शून्यम सर्व स्वलक्षण स्वलक्षणम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम ये उनका सिद्धांत है तो इसलिए इनका कहना है कि देखो अंतिम स्वरूप तो सर्वम शून्यम शून्यम हो जाता है ये तो हो जाए दो प्रकार के बौद्धों का मत और नैयायिकों को लग रहे विषय चैतन्यम चेतो तो नित्य से आत्म अनित्यम जायते विनश्यति क्या पर है घटारी विषय जो ज्ञान है वह चेतिता जो नित्य आत्मा उसके साथ मन का संबंध होने से वह चैतन्य रूप ज्ञान अनित्य रूप से उत्पन्न होता है और नाश होता है चैतन्यम भूत धर्म लौकायत कहा और चारवाकारी तो कहते हैं ये जो चैतन्य है ये भूतों का धर्म है चार भूत मिलकर के बन गए जैसे पान कथा चूना मिलकर चबा दिया तो एक लाल रंग आ जाता है हरा सफेद भूरा रंग की वस्तु है लेकिन जब मिला के चबा दिया तो लाल एक रंग वाला हो जाता है उसी प्रकार से पृथ्वी जल तेज वायु ये चार भूत मिल करके चैतन्य पैदा हो गया ऐसा लोग का लोगों का कहना है क्या खंडन वरंडन करने की ओर नहीं जा रहे हैं शास्त्रार्थ नहीं करेंगे यहाँ क्योंकि अन्यत्र विस्तार से होंगे विचार संकेत कर दिया भ्रांता के चित्त मुचंते भ्रांत कुछ लोगों ने इस प्रकार से आत्मा और चैतन्य बुद्ध ज्ञान को लेकर विवाद खड़ा किए हैं कोई कहता है क्षणिक विज्ञान है कोई कहता है शून्य है कोई कहता है ज्ञान चेतन आत्मा के अंदर उत्पन्न नाश होने वाला वस्तु है कोई कहता है भूतों का कार्य है ये नहीं वास्तविक सिद्धांत क्या है वो बता अनुपायोपचन धर्म का चैतन्य महात्मा एवं नाम रूपाय उपाय धर्म ही प्रत्यभाष थे वास्तविकता तो यह है अपाय रूपचन धर्म रहित है वो अनपाय और अनुपचन अपायश्च उपजन स्थिति अपाय उपचन चैतन्यम आत्मा एवं मतलब उत्पत्ति विनाश क्योंकि तो धर्मों से रहित जो चैतन्य है वो तो आत्मा ही है कहीं उत्पत्ति विनाश कैसे अनुभव हो रहा जिसके शिशु को भ्रांति हुई कहते हैं नाम रूपाय उपाय धर्म ही थे नाम रूप ये उपाधि हो गए और इनके जो धर्म है उन धर्मों के कारण से इन उपाधियां और उपाधि के धर्मों के कारण वजह से संबंध के कारण से आत्मा में ऐसा सब अनित्यता का भान होता है इसमें क्या प्रमाण है सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म विज्ञानम आनंद ब्रह्म विज्ञान घन इत्यादि श्रुतिभ्य सत्य ज्ञानवंत ब्रह्म है अनंत में देशादि परिच्छेद शून्य जो देशादि परिच्छेद युक्त है वो अंतवान है जो देशादि परिच्छेद रहित है वो अनंत है अंतत्व रहित है वो इसलिए उसको आनंद कहा जाता है और प्रज्ञानम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म प्रज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म रूप है विज्ञान और आनंद ही ब्रह्म रूप है विज्ञान घन प्रज्ञान ही ब्रह्म है और विज्ञान आनंद रूप ही ब्रह्म है विज्ञान घन ही है वो अवतार उत्पत्ति विनाश होने वाला नहीं ज्ञान कूट स्वरूप ही है वो आत्मा ऐसे इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुति हाँ। इसलिए जो है कलाओं के कारण से विनाश और उत्पत्ति रूपी अनुभूति होने के बावजूद भी वास्तविक वह उत्पत्ति विनाश नहीं है औपाधिक है इसे अन्य का ध्यायती व लीलायती व इत्यादि शास्त्रकारों ने कहा है सर्व विचारित पदार्थेश चेतन से अविचारात यथा यथा यो या पदार्थ विज्ञाते तथा तथा जायमान देव सर्व आदि देखते हैं घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान में घट पट पट का विचार हो रहा है इन ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान सब जो अनुस्यूत हुआ है उसका विचार नहीं है घटस्थ्य पटस्थ्य मटस्थ इत्यादि में अस्थि का अनुस्यूतता अनुभव में आता है इन घट पटपट का परस्पर एक दूसरे की असत्ता में विचार अनुभव मात्र है इसलिए कहते हैं सर्व विचारिश पदार्थ कटपराश चैतन्य से अविचारा चैतन्य मात्र अव्यविचरित रूपेण अस्तित्व रूपेण या ज्ञान रूपेण भान होते रहता है इसलिए यथा यथा यो यह पदार्थ ज्ञाते जाय जायमानत्वादेव तस्त जैसे अविचारित जैसे जैसे जो जो पदार्थ आपको ज्ञान का विषय हुआ करता है वैसे वैसे ही वह ज्ञान का विषक्त वस्तु का अनुभव होते रहे वर्तमान में किंतु उन सभी का तस् तस चेतन एवं सभी विषयों के साथ संबद्ध वह ज्ञान रूपा चैतन्य का कहीं भी वे विचार नहीं होता क्योंकि तो कोई कह ना विमान से खड़ा होकर के शक्ति को ला सकता है ना में एक शक्ति है कार्यात्मक शक्ति घट पट मठ सभी में इस घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान में ज्ञान ज्ञान ज्ञान एक है उसमें घट शक्ति पट शक्ति मठ शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति एक है कहा अंतर है कोई वस्तु व्यविचारी नहीं है शक्ति ज्ञान से भिन्न अव्यविचारी है यदि ऐसा कोई कहे तो उसके जवाब दिया यथायथा यो या पदार्थ हो विज्ञात है जिसकी धर्मावच्छिन्न होकर शक्ति अवच्छिन्न होकर के हो चाहे ये के ना भी धर्मावच्छिन्न होकर जो जो पदार्थ अनुभव हुआ करते हैं वह वह पदार्थ उन धर्मावच्छिन्न होकर के ज्ञान का ही विषय होता है और ज्ञान स्वरूप नहीं हो सकता इसलिए उन सबसे भिन्न जो तत्व ज्ञान रूपेण अनुभव हो रहा है चैतन्य वो अव्यभिचार युवा करेगा वस्तु छ किंचित न ज्ञाते इति अल्पन्न यदि कोई कहे वस्तु है लेकिन मैं उसे नहीं जानता उसको जाना नहीं जा सकता वो और ही है फिर तो वस्तु ही नहीं वस्तु जब भवती किंचित किंतु न जायते इति उचित तच्चानुपन्नम वह बिल्कुल उपन्न नहीं हो सकता यदि है वो तो निश्चित से ज्ञान का विषय होगा ही यदि कोई वस्तु है तो वह आपके ज्ञान का विषय जरूर होगा इसमें कोई संशय नहीं है इसलिए यदि वस्तु है कह करके कहता है कोई कि किंतु वह मेरा ज्ञान का विषय कदापि नहीं हो सकता फिर तो वस्तु है ही नहीं वो असत होगा वस्तु अस्थिर नहीं ला सकते वस्तु नापती असत अच्छा ही कहना पड़ेगा यदि आपका ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है तो तीनों काल में नहीं हो सकता है तो जाति का तात्पर्य तरीका का ज्ञान तो किसी भी काल के ज्ञान का विषय नहीं होने वाला हो क्या होगा खपुष्पादी होंगे अनेक पदार्थ अत्यंत असत पदार्थ ऐसे होते हैं जो तीनों काल में कभी भी आपके किसी प्रकार के ज्ञान का विषय नहीं होते इसे यदि आप कहते वस्तु है और ज्ञान का विषय नहीं होता इसका मतलब असत्य ही हो सकता है अन्यथा वस्तु है यह कहना ही अनुपन हो जाएगा युक्त युक्त तो नहीं बनता रूपंच दृश्यते न चाप चक्षुर्दी था आपका वह बयान आपका वह वचन उसी प्रकार जैसा कोई कहे मैं रूप को देखता हूँ किंतु मेरे पास आंख नहीं है अरे आंख नहीं है तो रूप कैसे देखा आपने वस्तु है और ज्ञान नहीं होता ये उसी प्रकार की बात है जैसे कोई कहे रूप तो है और उसको देख भी रहा हो किंतु मैं अंधा हूँ ये कैसा हो सकता है इसी जैसे चक्षु के अस्तित्व के बिना रूप दर्शन असंभव है ज्ञान का विषय हुए बिना वस्तु की सत्ता भी असंभव है यदि कोई वस्तु की सत्ता आप स्वीकार कर रहे हैं इसके बाद आपको यह भी मानना पड़ेगा कि वह आपके ज्ञान का विषय हुआ ही है इस जिस प्रकार यदि आप कहते हो मैंने रूप को देखा है तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि मेरा चक्षु ठीक है चक्षु है मानना पड़ेगा तो रूप कैसे दर्शन होगा उसी प्रकार से ज्ञान का विषय है मानोगे तभी उस वस्तु को है कहा सकते नहीं तो नहीं कहा सकते व्यभिचरित ज्ञेय न कदाचित विज्ञेयम व्यभिचरित तो ज्ञेय यही भले व्यविचार को प्राप्त हो सकता है लेकिन ज्ञेय जो है ज्ञान के साथ व्यविचार को कभी प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि जो है ज्ञेय वस्तु को आप बदल सकते पहले आपको घटक ज्ञान हुआ बाद में आपको पटक ज्ञान हो गया तो विषय तो बदल गया ना इसलिए ज्ञी भूता जो वस्तु है विषय भूता वस्तु है वो व्यविचारी हो सकता है किंतु जो ज्ञान रूपा वस्तु है वह न व्यविचरती कदाचित ज्ञम वह कभी भी ज्ञेय को छोड़कर नहीं हो सकता कदाचित विचरण ज्ञ न व्यविचरती ज्ञानम किंतु जो है वह ज्ञ के हट जाने के बावजूद भी ज्ञान कोई दूसरा ज्ञ को लेकर रहेगा एक ज्ञ का हट जाने पर भी दूसरा ज्ञ को लेकर के ज्ञान बना ही रहेगा और कोई ये नहीं मिला स्वरूभूत होकर के रहे फिर रहेगा जरूर ज्ञान ज्ञान का विचार कभी नहीं हो सकता और ज्ञान को छोड़कर विषय कभी नहीं रह सकता ये विचित्रता है ज्ञान को छोड़कर ये कहीं रहे ये भी नहीं हो सकता आप कह सकते हैं भाई जो भयंकर जंगल उंगल है ये किसके ज्ञान का विषय है आपके ज्ञान का विषय तो है नहीं बहुत सारे हिमालय का हिस्सा है जिसमें आज तक कोई मनुष्य गया ही नहीं ठीक है आपके वृष्टि चैतन्य के ज्ञान से होने वाला ज्ञान का विषय भले ही ना हो लेकिन ईश्वरीय ज्ञान का विषय तो जरूर है वाली जीव जंग पैदा हो रहे हैं वर्षा ऋतु में बारिश भी हो रही है सारे ऋतुओं का संबंध हो रहा है चीज उत्पन्न हो रहे हैं नाश भी हो रहे हैं पेड़ पौधे उत्पन्न हो रहे हैं नाश हो रहे हैं मनुष्य भले उस क्षेत्र में पहुंचकर उसका अन्वेषण करें या न करें किसी चीज का खोज करके समझ पाए न समझ पाए लेकिन ईश्वरी ज्ञान विषय तेना जो सभी के सभी विषय हमेशा ज्ञान का ही विषय हुआ करता है ज्ञान का अविषय होता तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता कई ज्ञान रूपी आत्मस्वरूप में ही समस्त विषय परिकल्पित होने के नाते ज्ञान की सत्ता से रहित तो स्वतंत्र सत्ता विषय होता ही नहीं है अतः मान के आपको चलना ही होगा कि ज्ञान रहित तो कोई विषय है नहीं इसलिए कद कदाचिदपि ज्ञानम न दी भले ही विचर विचरदी ज्ञ स्वयं विचार को प्राप्त नहीं रहता है ज्ञेया भावा ज्ञान से क्योंकि ये ज्ञान के अभाव होने पर भी ज्ञानांतर को लेकर के ज्ञान का अस्तित्व बना रहता है नहीं ज्ञान है ज्ञेयम नाम भौतिक कसिचित लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो कोई ज्ञेय नाम का वस्तु हो ही नहीं सकता यदि ज्ञान नहीं है आप कहो किसी चीज की और ऐसा चीज है ही संसार में आप कहो तो मान ही नहीं सकते वस्तु के परोक्ष ज्ञान या शब्द ज्ञान कोई न कोई ज्ञान पास कहोगे उस विषय के बारे में जिस विषय का आप किसी भी प्रकार का ज्ञान ही नहीं है उस विषय का है कहना असंभव है कोई कह ही नहीं सकता है कैसे कहेंगे आप किसी वस्तु को जिस वस्तु का आपको जो है परोक्ष ज्ञान नहीं अप्रोक्ष ज्ञान नहीं कोई ज्ञान नहीं अप्रोक्ष ज्ञान जो उसमें है उसमें तो बड़ा छाती तान करके बोल मैंने देखा है वस्तु है और जिस विषय को आपने अप्रोक्ष नहीं किया अगले हमने सुना था या शास्त्रों में कहा गया है ये तो बोलोगे लेकिन जिस वस्तु है ही नहीं जिस वस्तु का ज्ञान ही आप ना परोक्ष ज्ञान भी नहीं अपरोक्ष ज्ञान भी नहीं है उस वस्तु को है करके आप स्वयं नहीं कह सकते कोई नहीं कर सकते इसलिए कहते हैं ज्ञानी औषधि गेयम नाम न भवती कस्य ज्ञान नहीं है यही नाम का है ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता सुषुप्त दर्शनार्थ न्याय सुषुप्त अभाव ज्ञान स्वरूप से विचार है चिन्ह पूर्व पक्षी खड़ा होकर कहता है भाई सुषुप्ति में ज्ञान का भाव माना पड़ेगा सुषुप्त आदर्शनाथ ज्ञान सुषुप्ति में ज्ञान का भी आकर्षण होता है क्यों सुषिप्त अभाव क्यों सुषिप्ति में जो ज्ञान है नहीं ये ज्ञान स्वरूप से विचार जैसा सुषुप्ति में ज्ञ ही नहीं होने से होता है उसी प्रकार ज्ञान भी नहीं होता अतः ज्ञान के विचार को मानना पड़ेगा बड़ा युक्ति से जवाब देंगे यहाँ सिद्धांति अत्यंत आवश्यक विचार यहाँ पर आ रहा है भाषिका की युक्ति दृढ़ता पूर्वक जो निश्चय कर लेता है तो उसको अद्वैत वेदांत अनुभूति करने में कठिनाई नहीं होगी क्योंकि मुख्य चीज यही है हमारे अपने ज्ञान स्वरूप के बारे में हमें अपना संशय बना हुआ है ज्ञान स्वरूप में हूं और वह ज्ञान स्व प्रकाश है यह कोई नहीं मान सकता और नहीं मान पाता है यही समस्या है अद्वैत वेदांत अनुभूति में मैं ज्ञान रूप यदि हूँ तो सुशुद्ध मुझे ज्ञान क्यों नहीं हुआ इसका मतलब यदि मैं ज्ञान रूप होते हुए भी मेरा ज्ञान स्वरूप जड़ रूप होगा स्वप्रकाश नहीं होगा यदि सब प्रकाश होता मेरे ज्ञान रूप होता निश्चित रूप से किसी न किसी चीज को प्रकाशित करता होता ऐसा नहीं होता है आधे मैं स्वप्रकाश नहीं हूँ स्वप्रकाश नहीं होने से मैं ज्ञान रूप इसमें कोई प्रमाण नहीं है यही सर्व सामान्य तर्क है सभी का उस तर्क का जवाब यहाँ दिया जा रहा है इसीलिए ध्यान देना है न्यायोभाषक ज्ञान आलोक व ज्ञेयाभिव्यंजकता स्वलिंग अभाव आलोका अनुपत्ति शुक्ति विज्ञान भावानुपत्ति है कहते कि देखो बहुत सुंदर जवाब है यहाँ कहते कि देखिए आपको किसी चीज के दर्शन नहीं हुआ ज्ञाभाषक ज्ञान से आलोकवत ज्ञान का उभाषक जो ज्ञान होता है वो आलोक के समान है आपको किसी कारणवश किसी वस्तु का अनुभव में नहीं आने मात्र से ही क्या आप ये कहोगे आलोक ही नहीं है संसार में कोई आवरण है कोई बाधक है कुछ है जिसके वजह से आपने वस्तु को देख नहीं पाए वस्तु है लेकिन देख नहीं पाया इतने से आप ये कह दो कि आलोक ही नहीं ऐसा कोई नहीं कर सकता इसलिए व ज्ञान से ज्ञाभास ज्ञान से आलोक ज्ञ अभिव्यंजक क्योंकि ज्ञ का अभिव्यंजक होता है ज्ञान जैसे रूप का अभिव्यंजक आलोक होता है अगर ज्ञ का अभिव्यंजक कौन है ज्ञान होता है तो कहते हैं स्व्यंग्य भाव आलोक भाव अनुपतिवत मानव किसी वस्तु में रूप के अभाव है इसलिए आप उस वस्तु में रूप का दर्शन नहीं कर पाए तो क्या आप कहोगे केवल आलोक ही नहीं है ये ही नहीं रहा आलोक के द्वारा प्रकाश से मोटा वस्तु क्या है रूप वो आकाश में है क्या आकाश में रूप नहीं है वायु में रूप नहीं है अतएव आप वायु में रूप का दर्शन नहीं कर सके या आकाश में रूप का दर्शन नहीं कर सके अतएव आप ये कह रहे हो कि आलोक ही नहीं है संसार में ये तो नहीं कह सकते इसी प्रकार से सुषुप्ति में घटपटारी न होने से ज्ञान और जीव बुद्ध घटारी का प्रकाशन नहीं कर पाया अतः ये नहीं कर सकते हो आप उस शक्ति में ज्ञान ही नहीं है जैसे वायु जहाँ वहां भी आलोक है आकाश चाहे है वहां भी आलोक है आकाश में भी आलोक है वायु में भी आलोक है आलोक के होते हुए भी उस आकाश और वायु में आप रूप का दर्शन नहीं कर सके आलोक उस रूप का प्रकाशन नहीं कर सका क्यों क्योंकि उन दोनों ही अधिकारों में रूप ही नहीं होता है ठीक उसी प्रकार सुषुप्ति में ज्ञान तो है किंतु ज्ञान व ज्ञ का इसलिए प्रकाशन नहीं कर सका क्योंकि सुषुप्ति में ज्ञ ही नहीं होता है इसलिए सुषुप्ति में ज्ञ भावत का प्रकाशन नहीं हुआ और भाषण नहीं हुआ इतने मात्र से आप ज्ञान का ही अभाव को वहां सिद्ध नहीं कर सकते आपके मानना पड़ेगा वह ज्ञान है यथा आकाश देशावच्छिन्न स्थलों में आकाशावच्छिन्न देश में और वायुवच्छिन्न देश में आलोक का रहते हुए भी रूप का दर्शन नहीं होता उसे शुक्ति अवच्छिन्न अवस्था में ज्ञान का रहते हुए भी वह ज्ञान किसी ज्ञ का प्रकाशन नहीं करता क्यों कारण वहाँ जिस प्रकार वायु आकाश में रूपाभावात रूप दर्शन नहीं उसे शुक्ति में ज्ञेय ज्ञ का प्रकाशन नहीं हुआ है ये समझना चाहिए पूर्व पक्षी छोड़ता नहीं है उससे पहले कार युक्ति भी दे रहे नहीं अंधकार चिक्षा रूपानुपलब्ध हो चक्षुभाव शक्य कल्पित वैनाशिके न ज्ञान बुद्ध के सुषुप्ति में अज्ञान आवरण है ना इसे अंधकार का दृष्टान दिया मैंने दूसरे दृष्टान पहले आलोकवत जो कहा था उस आलोकवत को समझाने के लिए हमने वो दृष्टान दिया था वायु और आकाश रूपाभाव का लेकिन आप क्योंकि सुषुप्ति में आलोक तो ये आप लोग बायो वैसे यहाँ तो बनेगा नहीं इसलिए कहते हैं अंधकार के दृष्टांत अंधकार में मान लीजिए घट है लेकिन चक्षु से अंधकार तो घट रूप और घट का दर्शन आप नहीं कर पाए इतने मास ये नहीं कहोगे मेरा चक्षु ही नहीं चक्षु होता तो अंधकार घटो और घटो का दर्शन होता और अंधकार से घट और घटो का दर्शन नहीं हुआ इसलिए मैं अंधा हूँ ऐसा वो बौद्ध भी नहीं कह सकते कहना क्या पौधे से तत्त अविद्या रूपी आवरण सिद्ध निद्रावस्था में तमोरूपी अंधकार से आवृत घट के अस्तित्व अवस्था में भी घर का दर्शन जैसे नहीं होने पर विचक्षु के अस्तित्व का स्वीकार करते हो ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी कहते हैं अज्ञान रूपी आवरण से आवृत निद्रा रूपी अवस्था में ज्ञान का रहने पर भी ज्ञा भावात वहां पर ज्ञान का दर्शन ज्ञान का जो सत्य ये प्रकाशन रूप कार्य नहीं अनुभव में आता क्यों उसमें कारण क्या है ज्ञा भावा उसे यहां पर कारण क्या है अंधकार है ना प्रकाशा भाव अतएव घट का हमें अनुभव नहीं होगा ये समझ अंधकार में तो ज्ञान में ज्ञान है साधन को ले रहे ना चक्षु के अभाव के दृष्टान दे रहे हैं अंधकार चक्षुषा रूपानुपलब्ध अंधकार में चक्षु के द्वारा रूप की अनुपलब्धि हो गई इतने मात्र से आप चक्षु के अभाव नहीं कर सकते इसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में क्या है ज्ञान के द्वारा किसी चीज का प्रकाशन नहीं हुआ ज्ञा अभाव है वहां पर इस ज्ञेय भाव का भी प्रकाशन नहीं हुआ ये नहीं है ज्ञा भाव तो है ज्ञा भाव भी ज्ञेय है या नहीं ज्ञा भाव भी यही है है ना घटा भाव भी ज्ञा है या नहीं आपका उसमें ज्ञा भाव रूपी जो वस्तु आप मान रहे सुषुप्ति में वो भी यही है और उसका भी प्रकाशन ये सुषुप्ति समय नहीं करता सुषुप्ति में अज्ञान कराते हैं सुषुप्ति काल में ये ज्ञान ये भी बात प्रकाशन नहीं किया कि सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव है उस समय आपका अनुभव में आता है क्या नहीं आ रहा लेकिन ये अभाव है वहां जिस प्रकार अंधकार में घट है या घट रूप है या भाव है जो भी है उसको चक्षु प्रकाशन नहीं कर पाता फिर भी आप एक कहते मेरी चक्षु ठीक है वह अंधकार भी दोष की वजह से नहीं हुआ उसी प्रकार यहाँ पर सुषिप्त अवस्था में ये अभाव है उसके बावजूद भी वह ज्ञान उस भाव को भी प्रकाशन नहीं कर पाता है उस समय क्यों जैसे यह अंधकार तो भी दोष है अगर वहां भी कहूंगा रूपी दोष या विद्यारूपी आवरण इतने बात जैसे आप वहां लौकिक दृष्टान चक्षु के अभाव को नहीं मानते हो उसी वही यहां भी हम ज्ञान अभाव को इसलिए नहीं मान सकते अत्य सुशुद्ध में ज्ञान में विचार वैराशी को न्याया भाविक ज्ञान हम कल्पते विच्छेद तथा ऐसा है हम वैनाशिक लोग बहुत लोग क्या मानते हैं ज्ञेय का अनुभव नहीं हुआ तो ज्ञान में यही बोल देते हैं कौन के जैसे न्याय कौन का मत क्या है सविषय की ज्ञान हुआ करते निर्विषय ज्ञान तो होता ही नहीं स्वरूप स्वरूप को ज्ञान नहीं मानते आत्मा को स्वरूप को ज्ञान नहीं मानते आत्मा ने ज्ञान उत्पन्न